Senhor. अमृतत्व मिलित्वा ध्रुवम ध्रुवेश न प्रार्थयते ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश महत्मा ये नैव विजानाती किमत्र परिशिष्यते एतद्वै प्राप्त स्वप्नातम जागरिता उभौ ये नानुपश्यति महान्तम् बहुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोकति यम इमम् वेद आत्मा जीवमन्तिकात् ईशानम् भूतभव्य न ततो विजुगुप्तते एतद्वै तत् प्रातः कामान् अन्यन्ति बालक बाहर विद्यमान भोग्य पदार्थों की ओर दौड़ते हैं उनका पीछा करते हैं ये मृत्युर्यंती विपत्स्य प्रासन जो चारों ओर फैले हुए मृत्यु के फंदे में फंस जाते हैं जो वीर पुरुष हैं वे अमृतत्व विदित्वा अमृतत्व को जान करके अभ्युगेशु यह भुगम न प्रार्थयते ये जो संसार के गुणेश्वर पदार्थ हैं इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं इनमें ये अविनाशी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते हैं तो कराते सामान अनियंत्रित वाला चिड़िया पहले चढ़ती सप्तम में हम लोग क्या करते तो चिड़िया चारा चुगती होती को पकड़ने के लिए चुपके चुपके पांव दबा के निहुक के चलते इसको पकड़ना जब पास जाते गड़ाप को पकड़ने का समय आता तब तक वो उड़ जाती भाग जाती कितनी बार खिलौने के लिए रोए होंगे कितनी बार तस्वीर के लिए रोए होंगे कितनी बार मिठाई के लिए रोए होंगे कितनी बार बड़े लोग लालच देखे कि हम तुमको मिठाई खिलाएंगे नाचो उन्हें नचाया होगा कितनी बार हम तुमको मिठाई देंगे ऐसा कह के गवाया होगा ये छोटी छोटी वस्तुओं के भोग की लालसा से आबद्ध हो करके बालक ही इधर उधर दौड़ते हैं ये बुद्धिमान प्रज्ञावान श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण नहीं है तुम्हारे में भय भूत किस कारण से है भय भूत माने केवल काम से चलना नहीं ये जो इंद्रियों की मन की बुद्धि की दौड़ है उसका प्रेरक तत्व क्या है तो लोह के कारण जा रहे किम शब्द मात्रेण किम दूरम योजन प्रेम जब कचौरी का नाम कान में पड़ा तो बारह कोस पैदल चल के जाना क्या मुश्किल है ये गांव की कहावत हो सस्तुली शब्द मात्रेण किम दूरम योजन प्रेम वो क्यों भाग रहे हैं तो भय के कारण तो जहां तुम्हारा प्रेरक काम है जहां तुम्हारा प्रेरक क्रोध है जहां तुम्हारा प्रेरक लोभ है जहां तुम्हारा प्रेरक भय है वहां तुम अत्यंत तुच्छ के द्वारा प्रेरित किए जा रहे हो का भयेश्वर को भयेश्वर रजोगुण समुद्भव महासमा महाप्रार्थना विभिन्न विभिन्न कौन तुमको नचा रहा है अगर सचमुच नचाने वाला तुम्हारा लोभ न हो काम न हो क्रोध न हो मोह न हो नचाने वाला ईश्वर हो तो कितनी खुशी की बात है कर तुमने तो अपने आप को ऐसे छोटी छोटे किस्म के जो मदारी हैं उनके हाथ में दे दिया है अभी मैं सुना पा रहा था रात को हमें एक सपना आया तो सपने में कई जातें थी उसमें गेहूं ग्राम था उसमें अमरा था उसमें है ना ब्राह्मण पूरा था तो जिस गांव में हम ठहरे थे स्वप्न में सन्यासी देश में वो दर्दी सारा रहा था स्वप्न था ही ये गाँव जो नाम मैंने बताया तो अच्छे ढंग से ठहरे हुए थे तो कुछ लोग आए तो मैंने पूछा कि क्या बात है कौन आए हैं तो एक ने कहा कि इनको वोट चाहिए ऐसे देखो सपने में इनको वोट चाहिए तो मैंने कहा कि ये किस पार्टी के हैं और किस लिए आए हैं हत्या बंद करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ये वोट के लिए आए हैं ठीक लगा आवाज मैंने कहा अरे काम क्या है इनका सोचो तो बताओ मैंने ये देख के लिए आए मैंने कहा मैं पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हैं तो बड़े जोर से दांत की आवाज आई हो ईश्वर की आवाज आई ये कुछ करना नहीं चाहते हैं ये सिर्फ वोट चाहते हैं और वोट मांगने आए हैं इन्हें बंद कहने को मिले तो बंद कर कहने को राजी और खुली कहने को कभी से मिले तो खुली कहने <laughs> ईश्वर की आवाज आई इसलिए कुछ चाहते सिर्फ वोट चाहते हैं इसके सिवा तो और कुछ नहीं चाहते हैं <laughs> सारा प्रेरक कौन सा है केवल स्वाद न कोई धर्म न कोई सिद्धांत न कोई समाज न कोई सेवा केवल व्यक्तिगत सुख केवल व्यक्तिगत स्वार्थ केवल व्यक्तिगत भय है इसी से मनुष्य प्रेरित हो रहा है तो ये कुछ बड़े बूढ़े का बुद्धिमान प्रज्ञावान का ये लक्षण नहीं है ये बालक का लक्षण है और ते मृत्यु यंती वितस्य पाशम ऐसे लोगों की दशा क्या होती है बोले मौत ने एक जाल फैला रखा है जाल बहलिया लोग शिकारी लोग गांव में जाल फैलाते हैं चिड़िया फंसाने के लिए है? तो मछली फंसाने के लिए यहाँ भी समुद्र में जाल फैलाते हैं ना मछली फैलाने के लिए हम मछली फंसाने के लिए तो जो मछली उसके घेरे में आ जाती है वो फंस जाती है और मारी जाती है इसी प्रकार मृत्यु ने ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना ये अपना ये पराया ये शत्रु ये मित्र है ना ये अपनी पार्टी ये पराई पार्टी ये सब जाल जो है ये मृत्यु के दिखाए हुए हैं जहां तुमने छोटी चीज पर सोच मारी और फंसे वो बंदर ने जहाँ छोटे मुंह के बर्तन में अपना हाथ डाला चना निकालने के लिए तो वहां वो फंसा तो ये भी बुद्धिमान पुरुष का लक्षण ये है कि वो दृश्य में से किसी भी वस्तु को चाहे कितनी बड़ी झांकी हो गए दृश्य पदार्थ को महत्व न दे वो मौत है वो दृश्य वस्तु का रूप धारण करके मृत्यु आई है क्यों बोलो टूटेगा टूटेगा कि नहीं जो दृश्य है वो टूटेगा कि नहीं जो फलता है तो घड़ेगा कि नहीं जो जलता है वो बुझेगा कि नहीं दृश्य चाहे कितना भी महान रूप धारण करके आए अंत में मरने के लिए आता है तो इसी से कहते हैं ये सब रुद्र के रूप है रुद्र के हाँ। ये शास्त्र में ऐसे लिखा है कि ये दृश्य प्रपंच में जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब रुद्र के रूप हैं सब में विभक्त है सब में भयानक है सब में रौद्र है फंसना नहीं ये जीव को खाने में मीठा लगता है परंतु है इसके भीतर जहाँ काम आज काम ऐसे मन में माना काम भी जायते तत्र तत्र पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु यही सर्वे प्रविलीयंती कामा श्रुति ने स्पष्टम स्पष्टम ये घोषणा की कामान यह कामयते मन्यमाना जो संसार की वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके और उनकी इच्छा से व्याकुल हो रहा है वो कामना के वश हो करके यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ उसको भटकना पड़ता है यदि तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो वथ तो धीरा अमृतत्वा अमृतस्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्राथय सहन करने की आदत होनी चाहिए धीर पुरुष माने सहिष्णु होना हो तनो धीरो विज्ञाय प्रज्ञा गुरुवीत ब्राह्मण नानुध्याया बहून शब्दान वाचो विपुलातनम हिता तमेव धीरो विज्ञाय धीर पुरुष को चाहिए कि उसको खूब जान ले है ना और उसी ने अपनी प्रज्ञा को बुद्धि को लगा दे अनंत में अपनी बुद्धि को लगा दे आदमी के पैदा होने के पहले जो था और मरने के बाद जो रहेगा उसमें अपना मन लगा दे Yeah. अपना मन उसमें लगा रहे जो जन्मने के पहले था और जो मरने के बाद रहेगा उसमें अपना मन लगा रहे ये जो जन्मने मरने वाला है ना उसमें मन न लगा रहे ऐसे बर्फ के बनो जो जन्मे और मर जाए बर गोपाल जी मारो चुड़ लो अमर हो जाए क्या ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना अथ धीरा परदेशी से प्रीत कैद दिन सीखने वाली है अथ धीरा अमृतत्वाम विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विहन प्रार्थयते कल परसों कोई पत्रिका पढ़ रहा था तो उसमें निकला कि अपने अज्ञान को जानना ज्ञान है तो हम सोचने लगे कि क्या वेदांत का सिद्धांत यही है कि हम अपने अज्ञान को जान लें तो ज्ञान हो गया कल करके कहीं से किसी पत्रिका में से किसी अच्छा तो आप ये देखो अंधकार को जानना ही प्रकाश नहीं है उसमें वेदांतियों की एक बहुत बड़ी जो सुरक्षित भाषा है वो आपको बताते हैं पारिभाषिक रूप अज्ञान जान लेने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती उसमें एक संशोधन है आश्रय विषय सहित अज्ञान को जान लेने से अज्ञान की निवृत्ति होती है ये देखो तो वेदांत की भाषा आपको सुनाते हैं वेदांत की बोली है आश्रय विषय से माने अज्ञान किसके दायरे में है जिसके दायरे में है वो तो अज्ञान का विषय हुआ और जिसको है वो अज्ञान का आश्रय हुआ तो यदि आप अज्ञान को इस ढंग से समझें कि वो किसको है और किसके बारे में है और ये समझे कि जिसको है उसी के बारे में है माने अपने को अज्ञान का आश्रय और विषय आश्रयभूत आत्मा और विषयभूत ब्रह्म है ना आत्मा और ब्रह्म की एकता सहित नारायण यदि अज्ञान के आश्रय को भी जाने और अज्ञान के विषय को भी जाने विषय माने हम किसको नहीं जानते हैं और जो नहीं जान रहा है वो कौन है इन दोनों के साथ अगर अज्ञान को आप जानेंगे तो अज्ञान मिट जाएगा अच्छा और कहीं अखबार में किताब में पढ़ के आएंगे कि अज्ञान को जानना ज्ञान है और रख लेंगे हाँ बहुत बढ़िया बात है है ना बात तो बहुत बढ़िया है लेकिन समझदारी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है विद्वान लोग जिस ढंग से सोचते हैं वेदांत की विचार शैली विचार पद्धति उससे विलक्षण है घट का यदि अज्ञान है आपको तो आप घट को जानेंगे तब घट का अज्ञान मिटेगा के ज्ञान से घट का अज्ञान मिटेगा अपनी अद्वितीय ब्रह्म रूपता के अज्ञान से ही आप अपने को चूंकि जीव मान रहे हैं इसलिए जब अपने को आप अद्वितीय ब्रह्म रूप जानेंगे तब आपकी ये जीव भ्रांति जीव पने की भ्रांति मिलेगी तब ज्ञान होगा और आप कह भाई हम जानते हैं बड़े अज्ञानी हैं हम जानते हमको मालूम है हम तो समझते ही हैं कि हम बड़े अज्ञानी हैं तो हम तो अपने अज्ञापन बेवकूफी को हम समझते हैं कि हम बहुत बेवकूफ हैं तो क्या ब्रह्म ज्ञानी हो गए ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो गए बेवकूफी ज्ञानी हो गए है ना बेवकूफी को समझेंगे तो बेवकूफी के ज्ञानी होंगे और ब्रह्म को समझेंगे तो ब्रह्म के ज्ञानी होंगे ये आपको इसलिए बताया कि जो लोग परंपरा से उपनिषद का अध्ययन नहीं करते हैं वेदांत का स्वाध्याय नहीं करते हैं वो लोग छिटफुट बातें सुन सुन के है ना रख लेंगे अपने अज्ञान को जानना ज्ञान है है ना तो अथ धीरा अमृतत्वा इंद्रियों में स्वाभाविक ही अविद्या का निवास है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि आप रूप को जानती है इतना तो ज्ञान है आप में है लेकिन आप शब्द को नहीं जानती है ये अज्ञान भी तो है ना आप में और आप काम शब्द को जानता है इतना तो उसमें ज्ञान है लेकिन काम रूप को नहीं जानता है इतना अज्ञान भी तो है ना तो इंद्रिया जो है वो स्वाभाविक रूप से ज्ञान और अज्ञान दोनों के मिथुनीकरण से जैसे स्त्री पुरुष के संबंध से बच्चे की उत्पत्ति होती है ऐसे ज्ञान ज्ञान के संबंध से ये इंद्रिया प्रपंच को उत्पन्न करके दिखा रही है एक अंश में ज्ञान है एक अंश में ज्ञान है ज्ञान ज्ञान ज्ञानाज्ञान इन दोनों दोनों के विपुलीकरण से ये प्रपंच दिखाई पड़ रहा है तो आपको ये जानना होगा कि असल में अज्ञान किसके बारे में है और किसको है तो अज्ञान के आश्रय का विचार करेंगे तो त्वम पदार्थ का विचार होगा और अज्ञान के विषय का विचार करेंगे तो तत् पदार्थ का विचार होगा है एक बात आपको सुनाओ चाहे आप इदम का विचार करो चाहे तत् का इदम माने यह है और तत् माने वह अहम के बिना कोई विचार होगा तो अहम के पेट में आए हुए इदम का विचार होता है और अहम के पेट में आए हुए तप का विचार होता है अर्थात अहम इतना बड़ा है जिसके पेट में इदम और तप यह और वह दोनों समा जाते हैं आपको उसी अहम को ढूंढ के निकालना है उसी अहम को ढूंढ के निकालना है आप स्वयं है जब उदम और तट का चक्कर छूटेगा जब उपासना करने के लिए इदम नहीं रहेगा और उपासना करने के लिए तप नहीं रहेगा जब अपास्य और उपास्य दोनों का भेद जब बाधित हो जाएगा तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा दोनों का अपवाद करके अपने स्वरूप का ज्ञान होगा अथ धीयामृतत्वम् विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते अथ धीरा अमृतत्वम् विदित्वा धीर पुरुष जो है यम न व्यसयंती पुरुषम पुरुषर्षतम तम रुख सुखम धीरम सोम रतत्वाय तन कटे देखो सुख सो तन कटे जम तटे जमिन के पुरुषम पुरुषोत्तम समदुख सुखम धीरम धीर और अमृतत्वाय कर सकते और यहाँ कहते हैं धीरा अमृतत्वम रतत्वा तो ये भी जो है इसमें दो तत्व हैं आपको संस्कृत भाषा की विशेषता मालूम होनी चाहिए ये धीरा में जो घी है ना घी ये इसमें दो चीज है एक तो प्रतिभा और एक धारणा दोनों को मिला के ये घी शब्द बना है ना को ही घी कहते हैं यदि वो धारणावती हो गए धीर धारणावती मेधा मन एक आदमी है उसको सूझ तो जाता है बहुत दूर की सूझ जाती है लेकिन वो उसको धारण नहीं कर सकता भूल जाता है और एक आदमी धारण तो खूब कर सकता है लेकिन उसको कुछ सूझता ही नहीं है तो मेधा भी हो मेधा माने अपवाद दक्ष बुद्धि अपवाद दक्षा जो मती है उसको कहते हैं मेधा याम मेधाम देवगणा तया मामज्ञ मेधया अग्ने मेधादिनम कुरु मेधा का बहुत वर्णन है वेदों में मेधा के लिए बड़ी प्रार्थना है प्रतिभा व्याकरण शास्त्र में वाक्य पदीय में इसके लिए प्रतिभा शब्द का प्रयोग है प्रतिभा yatārtılık kurduğu gitti मालूम fayda. परंतु मालूम पड़ने पर भी क्या होता है कि मालूम तो पड़ गया कि आत्मा के सिवाय न कुछ संसार है और न कुछ संसार का कर्ता भोगता है मालूम तो पड़ गया लेकिन अब ये तो मालूम पड़ गया कि आत्मा अतिरिक्त और कुछ नहीं है ये मेधा ने बता दिया प्रतिभा ने बताया प्रतिभा ने बताया कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसके बाद थोड़ी देर बाद तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्धता की तू पाप हारी है ना अब प्रतिधान में जो अद्वय ब्रह्म था ना है ना नारायण जीवन जो है वो ज्ञान बल के अनुरूप नहीं है ज्ञान का बल नहीं है उसमें पराश्रित हुआ ना पराश्रित हुआ मौसम कौन कुटिल खल काम आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है है ना परंतु गिरे कहा है ना अपनी जगह पर आके बैठ गए ज्ञान बल का जीवन नहीं है मैंने जीवन में ज्ञान का बल नहीं है है नहीं मेरे सिवाय और बस अनंत कोट ब्रह्मांड नहीं है ब्रह्मा विष्णु भय अपने आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है कोट कोटि ब्रह्मांड नहीं है है ना इसमें कोई कर्ता भोक्ता नहीं है इसमें कोई कर्म और भोग नहीं है वो सबका है ना तो अपराध प्रधान बुद्धि जो होती है उसको मेघा करते हैं और धारणा प्रधान माने तदनुकूल बल प्रधान है ना तदनुकूल बल प्रभाव तो तो बालक था तो सामने खड़ा हो जाता तो कहता कि मेरे सिवा और दूसरा कोई है ही नहीं है ना तो जब चलना पड़ता तो बाप को कहता कि गोद में लेके चले <laughs> तो अस धीरा ये जो है ना ये वेदांत तो सुगमा का काम है ना ये तो भागो भागो आदमी जो है ये मैंने करने वाले का काम नहीं है बृहदराज बृहद हो जिसकी छाती चौड़ी हो बहादुर आदमी का काम है अथ धीरा अमृतत्व श्रीहम ध्रुवमध्रुवेश्विहमप्रार्थयन्ते दूर गुरु जब अमृतत्व को जान जाते हैं तो तुमको डर जाने का है बोले अरे हमारा ये बड़ा प्यारा बेटा बिखुर तो जाएगा अच्छा ये डर है अरे फिर मिलेगा तुमको अगले ब्रह्मांड में कोई जन्म मरण से मुक्त थोड़ी हुआ है वो तो है प्रपंच में अनंत बोध ब्रह्मांड में कहीं घूमता फिरता तो तुमको मिलेगा अरे मिलेगा कहा तो तुम तो बने ही रहोगे हाँ। तुम तो बने ही रहोगे फिर कभी तुमको मिल जाएगा काहे को घबराते हो तो महाराज आज तीस रूपये का नोट निकल गया हाथ से हाँ। अरे भाई वो नोट कहीं जाके एक दुकान में बैठेगा थोड़ी आसमान में घूम के तुम्हारे तो हाथ में आने वाला है होगा बारम्बार होगा तो इस जन्म मृत्यु से छुटकारा का उपाय क्या है कि अपने को तुम मृत्युशील नानात्व के अंतर्गत मत समझो क्या समझो जीर्ण नैरन्तर्जेण आकाशवत् ब्रह्म ब्रह्मैवाहमस्मि इति पश्चेत इति अर्थ शंकराचार्य भगवान ने भाष्य के अंत में कहा कि देखो इस पूरे मंत्र का अभिप्राय ये है कि तुम अपने को नानात्व से ग्रस्त मत समझो भिन्न मेवा न पश्चिम अपने को भिन्न की तरह मत देखो कब तब क्या देखें कि विज्ञान रसम नैरंतरण आकाशवत परिपूर्णम एक रस विज्ञान माने विज्ञाता और विज्ञेय से रहित विज्ञान एक रस विज्ञान का अर्थ होता है हाँ। ये जब हम किसी चीज को देखते हैं ना तो देखो फूल देखते हैं हम और आख से देखते हैं और हम देखते हैं तो त्रिपुटी हो गई ना देखने वाले हम देखने के लिए आंख और देखा जाने वाला फूल इसका नाम त्रिपुटी अब वैज्ञानिक रस का अर्थ है कि ये तीनों तीन नहीं है एक है एक ही विज्ञान ज्ञाता ज्ञ ज्ञ पुष्प ज्ञाता अहम और ज्ञान नेत्र के रूप में भाग रहा है एक ही विज्ञान है बिल्कुल जो दिल है सो आंख है सो फूल है और जो फूल है सो आंख है सो दिल है एक अखंड विज्ञान है और एक रस विज्ञान है श्रीमद भागवत में ये प्रश्न था तत्व क्या है तो वदंती तत्व तत्वविदा तत्ववेदता लोग उसका वर्णन करते हैं कि किन तत्व वो क्या है बोले तत्व यज्ञानम अद्वयम यत अद्वयम ज्ञान जिसमें मैं देखने वाला और ये देखा जाने वाला दृश्य और दृष्टा का भेद जहाँ कट गया कार्य और कारण का भेद जहाँ कट गया बड़े और छोटे का भेद जहाँ कट गया दिखता हुआ कट गया मालूम पड़ता हुआ भी कट गया ये नहीं समझना तो कोई ऐसी अवस्था आती होगी जब ये भेद नहीं दिखता है तो भेद जब ये समझते हैं कई लोग कि प्रपंच का अत्यंत अभाव जब हो जाएगा तब हम ब्रह्म होंगे जब तक प्रपंच रहेगा तब तक हम ब्रह्म नहीं होंगे तो प्रपंच का तो अत्यंत भाव होता नहीं हम ब्रह्म कैसे नहीं असल में प्रपंच में जो सत्यत्व की भ्रांति है बुद्धि में जो भ्रांति है बुद्धि में जो प्रपंच के सत्यत्व की भ्रांति है वो मिट जाने से हम ब्रह्म है प्रपंच के मिट जाने से हम ब्रह्म नहीं है प्रपंच के मिट जाने से ब्रह्म नहीं है प्रपंच में सत्यत्व की भ्रांति मिट जाने से हम ब्रह्म है और सत्यत्व की भ्रांति तो बुद्धि में है है ना माने बुद्धि में ब्रह्म ब्रह्मात्मैक्य का बोध और प्रपंच के सत्यत्व की भ्रांति की निवृत्ति केवल बुद्धि में ये परिवर्तन अपेक्षित है न तो प्रपंच का प्रपंचा भाव होना है और न तो ब्रह्मत्व का आविर्भाव होना है हृदय में आत्मा के रूप में ब्रह्मत्व का आविर्भाव नहीं होना है और प्रपंच का निवृत्त होकर के अत्यंता भाव नहीं होना है प्रपंच का प्रपंच रूप में भासते रहना और आत्मा का आत्मा के रूप में भासते रहना आत्मा में जो परिच्छिन्नत्व की भ्रांति है वो मिट जाना और प्रपंच में जो सत्यत्व की भ्रांति है वो मिट जाना अर्थात वेदांत ज्ञान जो है वो बुद्धिगत हेर फेर है ब्रह्मगत अथवा प्रपंचगत हेर फेर का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है बुद्धि ठीक हो जाने का नाम ब्रह्म ज्ञान है हाँ, वो घर में भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है बताओ वो गृहस्थ का भी हो सकता है सन्यासी का भी हो सकता है स्त्री का भी हो सकता है पुरुष का भी हो सकता है बताओ हाँ, उसमें हाँ, शंकराचार्य भगवान ने साफ कह दिया कि चाहे स्त्री हो चाहे शूद्र हो है ना चाहे पुरुष हो कोई भी हो जिसको ये निश्चय हो गया जो जिसको ये निश्चय हो गया कि आ, मैं अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म हूँ है ना प्रपंच में जो सत्यत्व की भ्रांति थी वो मिट गई अन्यत्व की भ्रांति थी वो मिट गई है ना आत्मा का ब्रह्म का आविर्भाव नहीं होता है ना वो तो ज्यो का क्यों है ब्रह्म का आविर्भाव नहीं होता और प्रपंच मिटता नहीं केवल बुद्धि में जो भ्रम है उस भ्रम मात्र का निवारण वेदांत का काम है भान का निवारण वेदांत का काम नहीं है भ्रम का निवारण वेदांत का काम है अच्छा अब फिर कल सुनावेंगे भाई